सब मिलके आज जय कहो बजरंग बली की कर जोड़ के बिनती करो बजरंग बली की सब मिलके आज जय कहो बजरंग बली की कर जोड़ के विनती करो बजरंग बलि की जय के लिए बल के लिए कल्याण के लिए आराधना करते रहो बजरंग बलि की सब मिल के बज जय कहो बजरंग बली की कर जोड़ के विनती करो बजरंग बली की सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की निर्भय बलो द्वंद हो निर्भय बनो निर्द्वंद हो आनंद से रहो मूर्ति हृदय में धार लो बजरंग बली की मूर्ति हृदय में धार लो बजरंग बली की सब मिलके आज जय कहो बजरंग बली की कर जोड़ के बिनती करो बजरंग बली की लांगूल से रक्षा किया करते हैं जनों की लांगुल से रक्षा किया करते हैं जनों की भूलो नहीं इस आन को बजरंग बली की भूलो नहीं इस आन को बजरंग बली की सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की कर जोड़ के विनती करो बजरंग बली की कर जोड़ के विनती करो बजरंग बली की माला प्रसाद और ले सिंदूर राधे श्याम माला प्रसाद और ले सिंदूर राधे श्याम सुंदर कथा सुनो चलो बजरंग बली की सुंदर कथा सुनो चलो बजरंग बली की सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की कर जोड़ के बिनती करूँ बजरंग बली की सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की बजरंग बली की बजरंग बली की पवन तनय में आ गया पवन समान प्रवाह जामवंत के बचन ने बढ़ा दिया उत्साह वृक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आप से आज मैं जब तक लौट नहीं आऊं मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना उठ रही उमंग हृदय से है उत्साह बढ़ रहा है तन में निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा यह कहता है कोई मन में इतने में ही मछली देखे श्यामा बोली दाई कर को यह शकुन देख अंजनी लाल गरजे फिर उछल ऊपर को हृदय स्थल वाले राघो का मन ही मन सादर ध्यान किया बादल के नाये गर्जन कर लंकापुरी को प्रस्थान किया सागर में उठा जोर भाटा सागर में उठा ज्वार भाटा शैलों से प्रगति ज्वाला है कच्छप बराह चौभो चक्के थे क्या है क्या होने वाला है जिस पर्वत पर पड़ जाए पाँव वह तले धसकता जाता है मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता जाता है पवन को नंदन गगन पर जाए पवन को नंदन गगन पर जाए वारिद सम गरजे दामिन सम तरजे अंबर पर मानो बवंडर डर जाए सुजन मन हर सही सुमन सुर बर सही अतुल मैं ना कही परस कर जाए बजाय कर डंका जराज गो श्रीलंका अंश का बल बाका सर सर जाए पवन को नंदन गगन पर जाए पवन को नंदन गगन पर जाए पवन को नंदन गगन पर जाए महाबले तब बले है जब हो बुद्धि निधान सोच रहे थे देवता ऐसे है हनुमान लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात इसे परीक्षा के लिए भेजी सुरसा आज राह रोक बजरंग के बोली वही ललकार आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार पवन तनय कहने लगे राह छोड़ दे मात धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात आवश्यक सेवा सन्मुख है उसको ही प्रथम करूँगा मैं अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं सुरसा बोली बकवाद छोड़ मन चिता अभी करूँगा मैं मुझको यह परमावश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधा तुरसा कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले ऐसे ही हट है हे माता तो मुख ही में मुझको धर ले पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल अबला के अभिमान पर हसे तनिक हनुमंत दो योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत अब तो हो गई थोड़ सी कुछ वह चार हुई यह आठ हुए वह पंद्रह तो यह तीस हुए वह तीस हुई यह साठ हुए सौ योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने उस समय बुद्ध से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने छोटा सा रूप बनाए अपना उसके जिहवा पर जा पहुँचे क्षण भर से उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता अब सुरसा सुरसा बनी बोले कर मृदुहास मेरा गुस्सा वह बनाम रवि था जिसका ग्रास बजरंगे जा बजरंगे जा असुरों में आर्य देश का गौरव दिखा के आ बजरंगी जा बजरंगी जा भेजा था जांचने को सुरों ने मुझे हनुमान आए थे तुझे देखने कितना है तू महान पूरी है परीक्षा पूरी है परीक्षा बजरंगी जाओ बजरंगी जाओ उत्तीर्ण भले भाति तो बल बुद्धि में हुआ सानंद सिया खोज को जा राम जी के दास राम जी के दास बाधा रहेगी दूर न आएगी तेरी पास बजरंगे जा बजरंगी जा बजरंगी जा बजरंगी जा कहती है ये सुरसा कहती है ये सुरसा तो राम के इस काम को पर पूर्ण करेगा आज बजरंगी जाओ बजरंगी जाओ बजरंगे जा बजरंगी जाओ असुरों में आर्य देश का गौरव दिखा के आ जाओ गौरव दिखा के आ जाओ बजरंगी जाओ बजरंगी जाओ बजरंगे जा बजरंगी जाओ असरों में आज देश का गौरव दिखा के आ जाओ गौरव दिखा के आ जाओ उधर शुभाशीर्वाद से उसने किया पयान इधर स्मिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान